सपने जो मैं देखता हूँ सच है या झूठ देखता हूँ आँखों में ये जो है बसे क्या रख लूँ क्या बेच दूँ सोचता हूँ सपने जो मैं देखता हूँ रंगों में जो मैं घिरा हूँ खुशी है या गम देखता हूँ खूबसूरत बनानी है मुझे मेरी दुनिया क्या रंग लूँ क्या छोड़ दूँ सोचता हूँ सपने जो मैं देखता हूँ Mm-hmm. mm-hmm.